work? Thanks. Will you back? Good over. I'll not like you done the Uti Padi. Yajimania, Bagiro Kosi, Hamodu Kasu, Hamodu Karisu, Osesaki. पे जाता अरे मजा बाबूड़ा जरूरी बन जाता बनार मत रोके ओ तुझे वरदीनी किसी गांव गया थे तो बारे शहर में गया जरा कपड़ा शौल पैर गया वो थोड़ा कौन कोशिश ठेकेदार बोल रही चोला गई धोती गुलाब रुपया ले जाने रहे जगह रुपया है बेटी के बाप एक बोतल में जावे ए डावड़ा मत पियो जी डावड़ा तू आगे मत कर ज्यादा सेना नहीं दे तू ज्यादा मत बोल मारे सामने बोला नहीं तो अब दिखाई यही दिखाई नहीं देता हमारा Педагоги! बूट गूंद का लाडू डाक तो हाँ। क्यों अगला लाए भूखा मरिए ये ली राधा हाँ। क्या उप चुप बात क्यों करया करे तुम्हारा कने बीत नहीं उप चुप नहीं सासू जी क्यों तो कह के नहीं दिनों यहां दिनों अगला जगह भूखा मरता दिखे मन तो भूखा क्यों मरे भाई भूखा मरे जन मैं थाने पहली क्यों नहीं तो थे न्यारा मती हो आले ओ तो सांग कहीं है सांग कहीं देख तो थने कहीं कटी कोई चेड़ो लाग हो कहीं हां हां कहीं बता हाँ, गला की कंटी कट गई गला की कंटी कट गई हाथ का दारू का ठेका पर क्यों बैठो जी हमारे चेड़ो <laughs> भाई संसार में गेला भवा तो भई घणी देखी पण ओ मैं तो तो नहीं देखी सासू जी एक तो भाई तू मारी सासू एक मैं थारी सासू हूं संसार में मैं बीन गाय देखे लेकिन वो को मैं बन बीन मारा बेटा की बात छोड़ लाख के मायने लाख के मायने मारो बेटो ताले दिसो है कि फूक ने कहीं कोई भूंडी लगाऊ ना लगा कहीं मारो बेटो हाँ मारो बेटो है हाँ तो नहीं था तो बेटो तो गया ने मारा बेटा जी से तो देखी जनता ने जेद लाग लागी जेज को बारे की गई थी मारो उपचुक में तो बोलते कि घराने की घराने की बात करें घराने की बात करें क्यों आज मैंने छह महीने में मैं थाने कितनी दबा रखू मैंने सोचू अबे सुधर जला अबे सुधर जला और मैंने आज क्यों पड़े कई उर रोजे ने करें की ले जाए करें की ले जाए तो ये कोई साची बात है तो मैं कोई सपना देख रही हूँ भी भी नहीं सपना ही देखो थे मेरे साथ तो चलो देखा सपना एक साथी चार ये चलो सपना देखो जा आप आपके तकदीर की बात है संसार में कई सुख कया करे जिसे घर के मायने आपको पुत्र अज्ञाकारी है बिना बड़ो ही सुख हुए पण गेला किया करे संगत का फल एक कोई कवि कौता तानु कहीं के मलिया घर मंजार हर कोई सत चंदन वे संगत लेवे सुधार रूखा नहीं राजिया जिको ए कोई संगत का फल लगा है हमारा बेटा को कसूर को नहीं है पर जो आगे कहीं बात हुई कहीं बात नहीं हुई बा आगे की बात आगे देख कमर सा हाँ चोखो बिचारी नहीं घराना की है જણે કોઈ યાંકી હજુ બારમાં ઉફડી કોની ટકે ટકન રાખ્યા હાજી ખમરસા ઉઠો ની એ સોરઠા ગાવણા રેતો ઉઠો ઉઠો તો રેજાઓ છોગલાઈ માં છોગલાની માં એ છોગલાઈ માં કોણ હું મેં કોણ છોગલાની માં છોગલાની માં खानदान में नहीं पता मैं दलमिया में सही साल बात करे मैं थने जी को संगतकार थने लगा खड़े थने दारू सिकाउन वाला मैं थने आसान से थारे मुंडा ने बात करे अरे गांव के मायने चर्चा करे भूंडो लागे सोच पाची बात मैं हां दिमाग ने सोच मैं भूंडो ना तू देख थारा मनु नहीं उपजे तो नहीं उपजे पण थोड़ो घणो कोई को कयोड़ो तो मान मां मर्गी मर्गी हां जीव ताई मर जन्म देता ही मैं तो मर तू बोले देखो तो मैं मर बेटा जी सिक्का आदमी की इज्जत नहीं है गांव का मायने दुनिया के समान है इज्जत नहीं है तो मजे जमा मारो मान लो वो संग्रोखी को लगो है छोड़ दे ऐसी बात नहीं जना देख बेटा हाँ। आखिर जमाने थने पिसाणो पड़ेला वहां भले पिसा वहां मोड़ पर खुल्लो करी आज जिंदगी तो बार बार नहीं आना देख ले बोले ऐसे इन जिंदगी में ये दुख तो भले पाओ बच्चे माने कोनी हैं कोनी माने नहीं अब तू आएगी दिल मान जाए कहीं मान जाए अब नहीं पियो कोनी पियो कहीं पियो मैं सुन पहली मारी बात मैं तो हाव हदो ऐसा बात चाव की लीडो में Thank you. பெற்றானை जन्म लियो नहीं लियो तो थारे कहीं लियो हाँ, मैं लियो तो बढ़िया मैं लियो आ गांव के मैंने शिक्षा पैदा करने कोई ने ने कोई ने ने तू ही जन्मियो कहीं हाँ, मैं शिक्षा छोगी है कौन बदेवे लुगाया मैंने लुगाया हाँ क्यों देवे सुन लुगाया छोटी पालो थारी लुगाई ने की कह सके कोई नहीं कह सके देख मारी बात सुन मुंडा के ढकनी देते मां पर संसार का गाडो की नहीं दिल जे बेटा जी तो मां हमें तू कह दूं करो मां सुना કોઈ તું મારો ઇલેક્શન હું બેઠું ને માં એ મત ગર મેં હારી દેખ બેટા એ लक्षण सीखे हूँ थारी हाथी सरी शिकाया ही जिकन देख तू था शरीर को नाश करियो है इज्जत के बट्टो लाग रही है माँ आप लो समझाओ कहीं ने देखो थका बेटा ने कैन समझाओ मारा ली बेलिया काट काट खाना गूं तार के चुक भाई चौक भाई दुनिया में लोगों के लाए लगाए वो करो समझा दी मैं गला माता जी मरका माता जी रोई ले माता जी ए लखना उंडे बेटा तू जन्मियो जांदे सोमन थाल बजाया में बांदर माणा बांटी दुनिया में बधाई दी और एन की बातों मैं तो दगजे मुंडो दिखन जोगी नहीं हुई संसार के मायने इनकी बात हम छादलो ही बन बात जोगी के वाले उनकी ओर से यानी हमारे सभी कलाकारों को पुरस्कार दिया जा रहा है कुल हाँ। मैंने कुल मैं मार गोली मार मारे मैंने कोई सुना प्रत्येक तो स्वयं मारी हाँ, क्यों मैं देख जा रही हूँ मैंने कहीं बात है देखो मैंने कोई को सत्यानाश का बोया जी कर दिया मैं यहाँ संसार देख जी मारी बात सुन मीठा खाने लोग है खरा बोल चुका माँ का है मन्ने कोई बर्मा या है मैंने कोई न कोई तो तुम हिटी करे रे राग दे खरो सित्या ना जाए जो गागरी भरिया को जिको राम दे मारा बेटा ने इरे माते पट्टी पड़ाई कपड़े रहा पट्टी का परिस्थिति ख्याल कर ओ कुने चालू पिता कुल तने बर्मा ही मारी तो अब भी कोई बात नहीं हमारी सोगन खा ले देखो देखो जो आदमी गलती हुआ करे कोई बात नहीं बेटा अब तो नहीं पिया जी दारू खुरिया के चोरा के लुच्चा के आके बेटा सोगन तलाक की नहीं लग गया करे तो मार गई लगा हम्म, सही बात है सर गड़ा आप पीपली है आप पीपली है क्यों मैं है पीपली हाथ कणी ले पीपली कहीं है हाथ कणी कदई कदई दारू पीऊं तो आप तीन तलाक गदो थे गा तीन तलाक गदो मत फलान कोने में कभी तो ली तो नहीं कहीं हाँ, ली तलाक शोभन था भगवान जी की कि लोण्या संतर को दुख विजयदान जी को दुख दुख तो सबाई तो दुख दुख में तो सो कर खेल रो जो तो हमारी माता जी काम लिए जो है देखो हमारी माँ ने तारागढ़ की तो पे जो है ले हाथ पानी ले कौन लगे माँ ओ हाथ पानी है मैं तारा बेचू हूँ आज मैं જંતર દુઃખ મેટુલા સાહેબ અચ્છા આ મેં દારૂ પીવલા તમે નહીં પીવા ભૂલ દો યાન કા લક્ષણ કોઈને દૂજાને નહીં તો કેના ને બતાના एर यान का लक्षण बतावे कोई करे नहीं जिका को मुंडो कहीं हुआ करे अरे भी को बासो कटे हुए नरक द्वार हुआ करे अबे नहीं मी पिऊ ओल नहीं पी वाह बेटा वाह ते बना ले आज हाथ पानी आ जा आनी बेटा हमारा दूध ले जा नहीं ले जाओ मां आज आटे तो हाथ पानी ले लियो हूं मैं आगे आगे दिख जाए ये बताइए एड़ा हाथ पानी कौन लगे वो आटे आटे हाथ पानी है ठेका मत हाथ पानी है बने चलो एक एक हाथ है बेटा મને સાચી વાત બતાવે મારી સોગંદ ખાય રકમા તારી પૂરી બસ માર્ગ નહીં મારી સોગંદ થાય સોગંદ ભગવાન હે માર્ગ નહીં હા अपना है तो ठिकाने खेत में एक एक छाजला जिसकी रखना ही हमारी बीननी के क्यों भाई देखो तू तो चल अपने कोई मार बेटे ने बोला बोला अपने माई ने कोई ठगले हां जी तो मैं खेत में बूटी खेत में बूटी हां जगह बता दे बेटा जगह नहीं बताऊं जगह बताओ दुनिया है हाँ। ठिकाने तो भगवान कही जाएगी तो बाकी खेत में मैं एक बात और सुनी खेत को कटी दो गिरवे रख दियो गिरवे तो रख दियो आज पार्टी रखी रकमा पूरी होनी खेत बंद करियो चल तू होती मत कर तो एक बात है माँ तू मारी माँ है अगर बात ज्यादा कदम गालियो है थरारी रकमा और देते हमने ले हाँ? भाई अच्छा मैं तो देते हूँ तो किसी मार बार के दिन मैं पेरन दे दे हूँ तो बाजी ले लीजिए मैं तो काटी ना भी पूछी हुई बैठ दूँ आगे बैठ सोचूं जैसे बूढ़ा बैठा खाना रखना हुई <laughs> ए मां ए काई करे ओ ये गोगल दे क्यों भाई काई करन के वास्ते अब सुनार क्यों के भाई कई तरीके पर बनो जो मैं के भाई मारी मां कने हां हां वो वेड़ो लाऊं ते को थने दे बराबर बना दीजिए ओए होए भी तो भी रंदे का दे कर हां दे दे मैं लाऊं मैं तो कोनी दूजे दूजे ले आऊं दूजे नहीं होए बेटा चांद जी भगवान ईशा बेटा भाई बंदूक इस तो गई प्लीज અને શોભના સપ્તાહ તો ધંધો ડાગડે અરે રકમડિયા લઈને હલો શેરજી કને અરે બેટા ઉપર લો કાઈ માં કાઈ ના તું બીકે ઘણો રકમ ભેગો આવી જવો क्यों बात कहीं हो तो नहीं हो देवाने तो बे वो एक आदमी ने भेज दियो पैसा तो ले जा पर तो नहीं उड़ाई नहीं मां मैं खाली एक बात कह दी थारो दूध ले जाऊं मैं सब है અરે પોતા પોતા પીધો મારે ગનું મારી લુગઈ રકમા કરાવી મારો બેટો આપ દારૂ મજા લિયા હવે દો ચૂને લિયા હે દીખના લા એક જા રામ રામ मदन भाई राम राम राम आज कहीं काम आयो तो मेरे को मदन काम तो भाने करने तो काम ही आवा और कहीं आवा खत्म में जावे तो लोग हुनार की दुकान दे दी बोली फालतू कर रहे थे कहीं मार बट की गड़ा दी अच्छी बात है अच्छा, भाने करने कोई रकम धर दी गया रकम रकम लाया मदन हाँ, रकम तो लाया एक भाई दुकान रकम नहीं लाया थाना हुक पूछना आया बात है हारे मारे यानी ठेठ लेन देन है ठेठ भाई अच्छा रात हार लिए दुकान खोली है हाँ। और अपन हाथ आ नहीं पर पैसा भेजा भेजा दे मैं भाई देख बुआर है अबे हाँ जल्दी करो मैंने टाइम नहीं आगे थारो जो वो खेत है के हां ए वो में है ठीक है कितना भैया हजार आ देख 3000 रे मैं थारो को भाड़ो है मंडी ओड़ो कितना भैया हजार है क्या के है पाँच तीन आठ हाँ ठीक है क्या कोनी है नहीं हाँ ठीक है अब देख वो अपने छह हजार रे मायने जो है के रकमान वो भेरो दार लेटर बाप चौदह हजार हजार हाल पता ही कोनी ब्याज नहीं ब्याज तो दे दे हम ब्याज आज नहीं राजी ब्याज से काम नहीं इन मारे और देख गुंडा लगा ನೀ ಪುಳ್ಳಲ್ ಆಗಂತ और बकार की बात तो बकार बात है तो नहीं छूटे करे अपने आया बात ये तो जी के आया नहीं मान के कोई नहीं हम इधर कुछ क्यों जो थाने मोड़ो तो मान तो खुद टाइम कौन नहीं मैंने कुछ नहीं ये थाने फुल मिला हजार रुपया है और ब्याज फिर क्या जो करता हो तुमसे कहीं का हजार ब्याज बाकी ये मतलब हो गए નર તો કરે ઘર વોર સચો એ નહીં મારા ઘર કો તું પાછો ઘરની સાફ જવાય કોઈ બાત નહીં થારું બેટા યાર રેડ હા ભાઈ બોલ કઈ કરનો આપણે તો ફાળગીતી કરો બિલકુલ બિલકुल अगला मदन लाल री जो चीजा पड़ी है खेत बेरो रकम आज री तारीख सू सब भरपाई और पैसा वसूल ये रकमा गई और हमारा ब्याज और हमें सब वसूल है ठीक है अच्छा, अब कहीं लाया भाई तू और हमें दो चूड़िया दो तोलारी चूड़िया घर में और पैसा कोनी भाई झूठ क्यों भाई आयो रखो दुकान बड़े भाई हाँ भाई आयो रखो दुकान कट और जगह लिया जा अरे भाई अब देख अंगूठा कर दे पटी और है अंगूठा करी ఏదో చూడలేవు మరి మూడు ट्रेन को नहीं ये लो भाई पाँच सौ रुपया है ना अपन के ना गोनी भाई मतलब से आयो ना गोली ने नटा तो ये ये रात दिन ना गिरे ही को एंग ये ना नटा कहते नटा नहीं ना नहीं नटा नहीं अब नटो ये लो बेटे हमारा दारू थोड़े बड़े पियो ने तो कोई उतार दियो अपन बलान काई करनो तू तो माता पड़ रही हवा माता पड़ गई आ गई इंडिया तेरा पाँच सौ रुपया कौन मिले नहीं कितना मिला पैसा दिया था जिसने मत बड़ी मत मैं तो बड़ी देने नहीं ढगा ढगा कर जाऊँ तेरा दोष है कि तू पता दूला देख भाई मदर ज्यादा बात नहीं कर ये तो पैसा है मैं जितना दोष है दो बाड़ो आगा दोष भी ले सकता बात और है कितना दिन और बोल करे तू बोल तो मैं दे उन्हें दे दूं खाई तो पी जाई कल क्यों रसो करे ए दो दिन हजिया हाल से <laughs> हाँ, मदन कोनी आयो मदन लाल सेठ नहीं आयो है मत तो दुख के है अरे भाई मंगला <laughs> आओ तो मदन लाल आएगा भाई जी बहुत बहुत अच्छे प्यारा आज सुस्त कहने मरो मित्र है ये तो हाँ, हाँ। सुस्त का है दारू उतरी है मैं तो फटे मैं तो फटे दारू चिरीजे मैं तो चिरीजे गई गई चिरीजे चिरीजे गई मैं तो दुख है दारू को उतार खोटो बनो में तो आप ठेका मत है चलो आज और ये हाँ। बात खत्म कर में तू है लड़ाई खोल आदमी ठेकेदार लड़े नहीं करनी सीधी तरह मानो दारू दे तो ठीक नहीं दे तुम्हें मर्जी देखिए यार रेवत को तो बोल जावे तो रब पत्ते मरे स्टेंस पुनी है अरे ध्यान नहीं है तो लोग निकले रहो जी पत्ता क्या कर राम राम हाँ। ए ठेकेदार राम राम राम राम राम राम राम आओ ठेकेदार साहब आओ मधु आओ आए मैं आ गया इनाते पत्ता पत्ता कहीं छुट्टी है कहीं कहीं सब है तू अरे नशे को बेकार बताती है दुनिया छूटी है और दारू को मारो पीते दारू सरजीवन फूटती है करता है बदनामी झूठी है तो इबरत धारा है और क्या समझते दुनिया वाले ये दारू जीव से मदन तू खेली जरा एक शायरी मैं ही बोलू प्यारा की होए बाकी के हीरो खावे ताई दांत घसे तो घस दे और मतलब बनता लोग हंसे तो हंसबा दे और कोनी है बागों की शोभा बने होती है मौज हरियाली से अरे यार दारू की शोभा बड़े मदन गाना वाली से अल्लाह मदलिया वो ही जगह बताऊं तूने दारू पिया अकबर मानन ना रावण हाँ, मालिक कई नाम डाली कई नाम लड़की थरो मेरा नाम तो चंपा मेथी की है दोनों अरे मेथी नहीं है चंपा है रे इरो नाम मैं जरूर जोड़ा मत जोड़ा तो- मैंने कोई बढ़िया होना गानो आप तो घना दिन आया ठेकेदारा मैं ठेकेदार कोई है हार्ड का ठेकेदार थोड़ा तो ही नहीं जी आप तो क्या है घना दिन हुआ है आप तो अरे इतने दिनों जेल में हो <laughs> ए मजलिया कैसा बस जल की गोली माधव मारो तुस कयो मारो एक आदमी कैसे के मने सुना सुनो तो आपकी मनवार कहीं करूं मैं मन बोतल दरू पाओ अच्छा। हम्म।